कि उनका परवर्तिकार उन्हें जो कुछ देगा उसे वसूल कर रहे होंगे वो लोग इससे पहले ही नेक अमल करने वाले थे